और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरी का बोझ ना उठाएगी और कोई बोझ वाली अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो उसके बोझ में से कोई कुछ ना उठाएगा अगर चे करीब रिश्तेदार हो ए महबूब तुम्हारा डर सुनाना तो उन्हीं को काम देता है जो बे देखे अपने रब से डरते और नमाज कायम रखते हैं और जो सुथरा हुआ तो अपने ही भले को सुथरा हुआ اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے